कांटे पे एक पल्ले पे अंगुष्टरी धरी और दूसरे पे नान रखे जल्द जल्द ही रखता गया वो नान पे हर बार नान को फिर भी रहा वो पल्ला झुका ही झुका था जो क्या गम हो उसको पल्ले पे जिसके खुदा रहे पल्ला तो क्या है सारा जमाना झुका रहे पल्ला तो क्या है सारा जमाना झुका रहे गुस्से में नान साज ने फिर आके मोमिनों सब नान उस पे रख दिए बिगड़ा मिजाज तो पल्ला मगर झुका नहीं जिसमें अंगूठी थी किस तरह झुकता उसमें अंगूठी अली की थी थी कीमती अंगूठी तबीयत मचल गई याने के नान बाई की नीयत बदल गई बोला कहाँ से तूने अंगूठी ये पाई है घर से मेरे अंगूठी ये तूने चुराई है चोरी का नान साज ने इल्जाम धर दिया अच्छे भले फकीर को बदनाम कर दिया आखिर गदा के हथकड़ी हाथों में डालकर काजी के पास ले गए सब किस्सा मुख्तसर झूठे गवाह करके खड़े नान बाई ने करवा दिए कलम वही हाथ उस फकीर के हाथ उस गदा के हो गए जिस वक्त के कलम पहुँचो से खून जारी था आंखें थी उसकी नम चेहरा उदास लपे फोगा दिल में था अलम बाहल दर्दनाक परेशान एकदम हैदर की बारगाह में पहुंचा बसद अलम देखा उन्हें तो चूम लिए दौड़ कर कदम फिर बोला यूं पुकार के یا مرتضی علی پھر بولا یوں پکار کے یا مرتضی علی فریاد میری سن لو برائے خدا علی فریاد میری سن لو برائے خدا علی